लेकिन अभी तो उनके जाने के गम से सुरों के सहारे राहत पाने के लिए हमें सुनना होगा एक और अमर गीत जो 1964 की सालाना पादानों तक नहीं पहुंच पाया मगर जो मेरे दिल में भी तब से अब तक बसा हुआ है चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले आ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के चले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले पहली किरण से आशा का सवे पहली किरण से आशा का सवेरा जागे चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे कभी धूप खिले कभी छाव में डगर न खले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार खले एक ऐसे गगन के तले दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए लहराए जहाँ दूर नजर दौड़ संदेशा लाए सपनों में पली हंसती हो कली जहाँ शाम सुहानी ढले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन पे तले सुन के ऐसे जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो हम जाके वहाँ खो जाए कोई गिला हो हम जाके वहाँ सब मिल के यूँ चलते चले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले आ चल के तुझे मैं के चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले दोस्तों अगर आपको याद न हो तो इतना बता दूं कि छाओ के इस गीत की फिल्म के नाम में भी छाओ थी दूर गगन की छाओ में जिससे कि किशोर कुमार पहली बार प्रोड्यूसर भी बने और डायरेक्टर भी बने और इस गीत के शायर भी किशोर ही थे संगीत तो था ही उनका एक और खास बात थी इस फिल्म की कि किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार की भी ये पहली फिल्म थी गायक की हैसियत से नहीं भाई बल्कि एक्टर के रूप में <laughs> अमित ने उसमें किशोर कुमार के छोटे बच्चे का रोल किया था बच्चा जो एक दुर्घटना की वजह से गूंगा हो जाता है लीजिए खुद अमित कुमार से सुनिए कि वो रोल उन्हें कैसे मिला उस जमाने में मैं तो सिर्फ दस साल का था मैं तो बच्चा था मैं कलकत्ते से आता था छुट्टियों में हाँ मुझे याद है मेरे पिता तब उनके यूनिट मेंबर्स के साथ बैठते थे और मैं भी उनको देखता था, रहता था और बीच बीच में वो ही वॉन्टेड अ डम कैरेक्टर डम बॉय तो वो सब बच्चों के टेस्ट लिया करते थे अचानक जब उन्होंने देखा कि अरे घर पे अपना बच्चा है तो क्यों ना इससे चांस दिया जाए तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा एक काम करो तुम पर्दे के पीछे चले जाओ मैं शर्मा के हूँ मैं क्यों जाऊँ पर्दे के पीछे तो जाओ मैं जैसा कहता हूँ तो मैं जाके बोला अब सीरियस हो जाओ अब अपने आप को थप्पड़ मारो तो मैंने थप्पड़ मारा सीरियस हो गया बोला अब पर्दे से तुम बाहर आओ फिर मैं, मैं बाहर आया फिर उन्होंने कहा डायलॉग बोलो बापू तुम कैसे हो मैंने कहा बापू तुम कैसे हो उन्होंने कहा हाँ दिस इज द बॉय चलो इसी से हम काम लेते हैं तो वो गंग की छाव में मेरा पहला फिल्म था अच्छा भाई अब आगे बढ़िए उन्नीस की छाव में डेजर्ट की छा यहाँ एक और खूबसूरत गीत आपका मंतजर है इससे भी मकबूलियत यानी लोकप्रियता की धूप ने ऐसे मुंह फेरा कि इस गीत की नींदें उड़ गई अब ऐसे बेमिसाल गीतों के सीनियर जन्मदाता मदन मोहन भी अगर कई बार छाव में छुप जाते थे तो भाई उस जमाने के जूनियर शहजादों यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तो बिसाथी क्या थी एक फिल्म उन्नीस में आई थी एलपी की यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जिसमें कम से कम तीन बड़े अच्छे बड़े मधुर गीत थे मगर गीतमाला की वार्षिक संगीत चिड़ी पर सिर्फ उस फिल्म का एक जरा मामूली सा गीत बजा जिसकी झलक आप इसी वॉल्यूम में सुनेंगे पायदान नंबर तीस पर और छाओ में रह जाने वाला एक बड़ा ही पुरसर गीत आप सुनेंगे अब जगत भर की रोशनी के करो शेर ने लुटारे लिखा है ये करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं करोड़ों आंगनों में है अंधेरा अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला समझ ले है अधूरा काम तेरा जगत उद्धार में अभी अभी तो दुनिया में अंधेर है सूरज रे जलते ना सूरज रे जलते ना जगत भर की रोशनी के लिए करो देखिए जरा सामने 1964 के एनुअल हिट सॉन्ग्स की झलके नाराज खड़ी हैं कि अमीन भाई हमारी बारी भी तो आने दीजिए हाँ हाँ तो आओ भाई आओ मगर एक एक करके हैं हाँ। पहले उस साल का गीत नंबर बत्तीस लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास आ गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास आ ये गीत और उस साल की पैदा नंबर इकतीस का गीत ये दोनों फिल्म अप्रैल फूल के थे पायदान नंबर 30 पर फिल्म हरिश्चंद्र तारामती का वो एक ही सीधा साधा सा गीत जिसका जिक्र मैंने एलपी के नाम के साथ यानी लक्ष्मी प्यारे के नाम के साथ अभी कुछ देर पहले किया था मैं एक मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ उस साल की हिट पायदान नंबर 29 पर एक हसीना को देखकर चांद ऐसे शर्माया कि उभरी दूर की आवाज उसम से चांद भी शर्माया है तेरी सूरत ने गजब ढाया है हुस्न से चांद भी शर्माया है तेरी सूरत ने गजब है इस गीत के गीतकार संगीतकार वही थे जिन्होंने हमें चौदहवीं का चांद हो वाला खूबसूरत गीत दिया था यानी रवि और शकील बदायूनी और वही जोड़ा उन्नीस की पायदान नंबर 28 पर भी चमका फिल्म थी जिंदगी सौदा करते हैं हम क्या फिल्म जिंदगी के डायरेक्टर थे रामानंद सागर और फिल्म के सबसे सीनियर एक्टर थे पृथ्वीराज कपूर साहब जिनकी मदद से ही सागर साहब ने फिल्मों में शोहरत पाने का पहला कदम रखा था इसके बारे में सागर साहब ने एक इंटरव्यू में मुझे बताया था पृथ्वीराज जी मेरे दोस्त थे यहाँ आने से पहले वो मेरी किताब में पढ़ चुके थे जी और मैं उनका दिलदादा था हम्म। तो उन्होंने मदद करनी चाहिए जी तो मैंने कहा कि मुझे कोशिश कर लेने दो अच्छा पृथ्वीराज जी ने फिर मुझे कहा कि मेरे लिए एक प्ले लिख दो एक ड्रामा लिख दो कौन सा प्ले था वो कलाकार वहां मेरी राज साहब से मुलाकात हो गई हम्म। वो एक किसी अच्छी कहानी की तलाश में थे हम्म। एक पिक्चर बनाना चाहते थे बरसात हम्म। उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास कोई कहानी है तो मेरे पास एक एक नावल था जो मैं लिखना चाहता था उसका खाका तैयार था तीस चालीस पेज का मैंने उनको सुनाया कि एक आइडिया है ये हम्म। जो उनको बहुत पसंद आया हम्म, और उस पर हिट फिल्म बनी बरसात जिसके जरिए राज कपूर के करीब आ गए रामानंद सागर और साहब 1964 के बाद तो रामानंद सागर साहब की कामयाबियों का झंडा बस ऊंचा ही ऊंचा चढ़ता रहा पहले उनकी अपनी फिल्मों में और फिर टीवी सीरियल रामायण के जरिए खैर वो तो बात की बात है अभी तो ये पूछे कि 1964 के पायदान नंबर 27 पर कौन साहब सवार थे मुझे कहते हैं मुझे कहते हैं कल्लू कवाल कल्लू कवाल के तेरा मेरा तेरा मेरा साथ रहेगा नहीं तू है मुझे कहते हैं कल्लू कवाल कल्लू कवाल के तेरा मेरा तेरा मेरा साथ रहेगा ये फिल्म थी दूल्हा दुल्हन जिसके संगीत का शंकर जयकिशन ने तो उस साल कमाल ही कर दिया था साहब गीतमाला की सालाना संगीत चिड़ी की बत्तीस पायदानों में से तेरह पायदानों पर उन्हीं की धुनें थीं और उनके पीछे पीछे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला जोड़ा भी लोकप्रियता की रेस में दौड़ने लगा था अपने जैसे सारे नए नौजवानों का हौसला बढ़ाते हुए और उन्हें पाठान नंबर छब्बीस पर दोस्ती का गीत सुनाते हुए साही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है दुख तो अपना ठाती है मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है दुख तो अपना साथी है सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है दुख तो अपना साथी है राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है दुख तो अपना साथी है अच्छा दोस्तों जब फिल्म जंगली के जरिए सायरा बानू की एंट्री फिल्मों में जो हुई थी उसका जिक्र हुआ था तब मैं जंगली के बड़े मशहूर डायलॉग राइटर आगा जानी कश्मीरी साहब की आवाज भी आपको सुनवाना चाहता था मगर मुझे उनके इंटरव्यू का वो टेप वक्त पर मिला नहीं अब जाकर मिला है तो जरा सुनिए कि सारा बानू को डायलॉग बोलना सिखाने में आगा जानी कश्मीरी साहब ने कैसे मदद की फिल्म आलाया स्टूडियोज में जब जंगली लिखने गया तो क्या देखता हूँ कि एक जवान खूबसूरत लड़की नीची नजरें किए मेरी तरफ खिरामा खिरामा बढ़ी चली आ रही है मैंने कहा अदाबर रहे सिर्फ नाजुक सा हाथ उठाकर चांद से माथे पर रखा और कहा आगा साहब आप मुझे डायलॉग सिखाएंगे मैं जंगली की हीरोइन सायरा बानो हूँ मैंने कहा जरूर फरमाने लगी लोग तो कहते हैं कि मैं काम नहीं कर सकती तस्वीर फिलाप हो जाएगी <laughs> वो जरा नई थी ना आगा साहब उन्हें कैसे पता चलता कि जिस फिल्म में आगा जानी कश्मीरी साहब का कलम लग जाए वो फ्लॉप कैसे हो सकती है जंगली रिलीज हुई और सायरा बानो टेरेफिक हिट हुई भाई अगर आप आगाजानी कश्मीरी साहब की लिखी हुई या डायलॉग से संवारी हुई फिल्मों के नाम सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे जैसे पुरानी फिल्मों में हुमायून अनमोल घड़ी औरत अमर वगैरह और फिर 50 से शुरू होकर आज के वॉल्यूम के साल यानी 1964 के आते आते चोरी चोरी और जंगली के अलावा लव इन शिमला ये रास्ते हैं प्यार के मुझे जीने दो गजल जिद्दी और अप्रैल फूल जिसका एक और गीत उस साल नंबर 25 पर बजा और सुनिए उसमें आगा जानी ट्रेन सायरा बारू ने दो चार शब्द कैसे मजे में बोले थे और और वैसे वो गीत ये था एप्पल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया तो मेरा क्या कसूर जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया बनाया अरे बाबा आजकल तो न जाने कैसे कैसे और कितने कितने लोग जनता को अप्रैल फूल बनाने यानी बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं और इससे कितना नुकसान हो रहा है हर तरफ तो मैं उन सब से कहूंगा कि भाइयों झूठ फरेब छल कपट छोड़िए प्रेम का रास्ता पकड़िए फिर देखिए कि सारी जनता आपको अपने सीने से लगाकर क्या कहती है आपसे चौसठ की गीतमाला वार्षिक पायदान नंबर 24 पर बजा था फिल्म आपकी परछाइयां का ये गीत परछाइयां का ये इसके संगीतकार मदन मोहन और गीतकार राजा मेहदी अली खान ने मिलकर ऐसे कई बड़े ही जज्बाती गीत रचे थे लेकिन इन दोनों में हंसी मजाक और छेड़छाड़ का जो धमाकेदार रिश्ता था ना उसके बारे में सुनिए कि मुझे मदन भैया क्या बता गए थे <laughs> अमीन साहब खाने पकाने का शौक हम दोनों को था हम्म। इसलिए रात का खाना इकट्ठे पकाते थे और खाते थे और उसके बाद काम करते थे जी रात को जब राजा साहब काम करके चले जाते थे हम्म। तो मैं देखता था गाना हम्म। और सुबह सुबह फिर मैं उनके घर पर पहुंच जाता था हाँ। और अगर मुझे गाना पसंद ना आता था तो मैं उनकी रसोई में जो एक चिमटा पड़ा हुआ था चिमटा वो उठा लेता था <laughs> जी हाँ वही चिमटा उठाकर मैं राजा से कहता कि शाम तक देखो राजा गाना नहीं हुआ तो ये चिमटा जो है ये तुम्हारे बदन पर बरसेगा अरे बाप रे अच्छा राजा ने मेरा एक नाम चिमटा मार खान भी रखवा दिया था चिमटा मार खान <laughs> सब लोग मुझे श्री से पुकारते थे मगर भाई जब गीतों की बारी आती ना तो मदन और राजा का सारा धूम धड़ाका भावनाओं की गहराई में डूब जाता मैंने तेरे चेहरे से हटाऊं तो कैसे मैंने गाए तेरे चेहरे से कैसे लुट गए होश तक फिर होश में आऊ कैसे मैंने गाए तेरे चेहरे से हटाऊं 也许。 के बताऊं कैसे मैं निगाहें गए